खेल खेले खेल खेल का दिन है खेले खेल खेले खेल खेले खेल खेल का दिन है खेले खेल खेले खेल खेले खेल खेल का दिन है खेले दोस्तों जय हिंद दोस्तों आज भी हम तुम्हारे लिए लाए हैं कहानी गाने और खेल दोस्तों आज का खेल भी शब्दों का ही खेल है हम्म इसमें एक शब्द मैं बोलूंगी और उससे मिलते हुए शब्द तुम्हें बोलने होंगे जैसे मान लो आ, मैं एक शब्द बोलूंगी आना हुँ? हम्म, तुम लोग उससे मिलते हुए शब्द बोलोगे आ, जैसे आ, गाना माना पाना लाना कुछ भी लेकिन इसके साथ साथ तुम्हें ताली और चुटकी बजानी होगी हाँ तो भाई सब लोग मेरे साथ साथ ताली और चुटकी बजाना शुरू करो याद रहे ताली और चुटकी लगातार बजती रहेगी हम्म चलो शुरू करते हैं ठीक है ना हम्म शाबाश पहला शब्द बोल रही हूँ और तुम्हें उससे मिलते शब्द ताली और छुट्टी बजाते हुए बोलने हैं ठीक है ना और अगर ये ताल किसी ने गलत किया तो भाई सजा मिलेगी हाँ क्या सजा मिलेगी तो मैं बाद में बताऊंगी ठीक है ना <laughs> अच्छा सुनो ध्यान से सुनो हाँ हाँ अच्छा अब बदल दो काला काला माला पाला काला <laughs> अच्छा अब बदल दो नीला पीला पीला पीला नीला और बोलो नहीं याद आ रहे चलो खैर कोई बात नहीं अच्छा अब मैं एक और शब्द बोल रही हूँ ध्यान से सुनना केला केला केला अरे भाई बच्चे तो बड़े होशियार हैं गलती कर ही नहीं रहे सजा पा ही नहीं रहे हैं अब बोलो राजा खाजा <laughs> नहीं नहीं नहीं नहीं ये नहीं माना जाएगा साझा कोई शब्द नहीं होता <laughs> आ, सुनो अब तुम्हें हम सजा दे रहे हैं ठीक है ना आ, तुम कोई गाना सुनाओ सुनाओ सुना जल्दी सुनाओ तू जिंदा है तू जिंदगी की जीत पर यकीन कर अगर कहीं है स्वर्ग तो उतार ला जमीन पर बहुत अच्छे बहुत अच्छे ताली बजा सब लोग बात अब मैं फिर से ताली शुरू करती हूँ ठीक है ना हम्म को तो भूख लग रही है अच्छा बदल दो जाट नहीं नहीं गलत गलत माट कुछ नहीं होता माट तो होता है लेकिन माटा नहीं होता हम्म। अब तुम्हें मैं सजा देती हूँ तुम कोई कविता सुनाओ हम्म, अच्छा मछली जल की रानी है जीवन उसका पानी है हाथ लगाओ डर जाएगी बाहर निकालो मर जाएगी अरे वाह वाह वाह वाह बहुत बहुत शाबाश शाबाश अब खेल फिर से शुरू करते हैं ठीक है ना खाता माता जाता लाता गाता अरे वाह अरे वाह वाह वाह बस बच्चों अब हमारा खेल यहाँ खत्म होता है हाँ गुरुजी से प्रार्थना है कि वे अपने बच्चों को अपने विद्यार्थियों को कुछ शब्द दें और ऐसा ही खेल खिलाएं शब्द हम बताए देते हैं कब जल कान और मटका एक थी बिल्ली म्याऊ एक बिल्ली म्याऊ दूजी भूरी बिल्ली म्याऊ रोती गाती म्याऊ लड़ती म्याऊ रोती म्याऊ हंसती म्याऊ गाती म्याऊ लड़ती म्याऊ एक काली बिल्ली म्याऊ एक बार की बात है काली बिल्ली और भूरी बिल्ली घूमने जा रही थीं। रास्ते में उन्हें मिल गई एक रोटी घी से चुपड़ी हुई गोल गोल रोटी काली बिल्ली बोली म्याऊ काली बिल्ली बोली म्याऊ घी से चुपड़ी रोटी खाऊं भूरी बोली म्याऊ म्याऊ घी से चुपड़ी चारों बिल्लियां अपने अपने मन में सोचने लगी कि मैं ही पूरी की पूरी रोटी हड़प जाऊं इसी बात पर दोनों में हो गई लड़ाई दोनों लड़ने लगी और तभी दिखाई पड़ी उन्हें एक गाय बिल्लियों ने गाय को बुलाया और कहा गैया माई ओ गैया माई जरा हमारा बंटवारा कर दो ना खूब जोर की हुई लड़ाई बिल्ली ने आवाज लगाई बोली छी छी बिल्ली जल्दी दोनों कर लो मिल्ली मिलकर खाओ मौज मनाओ मुझको जल्दी जाना दिल्ली हाँ। ये कहकर गैया चली गई गाय के जाते ही दोनों फिर झगड़ने लगे तभी उन्हें एक हाथी दिखाई दिया दोनों ने फिर हाथी को आवाज दी और कहा छोटी सी रोटी के लिए दोनों बिल्लियों को यूं झगड़ता देखकर हाथी चिंगाड़ा और हंसता हुआ बोला अरे बिल्लियों इतनी छोटी सी रोटी के लिए तुम झगड़ा कर रही हो अरे दोनों मिलकर खाओ और खेलो कूदो तेरे की बिल्ली रानी दोनों क्यों करती दादानी छोटी रोटी के पीछे तुमने लड़ने की क्यों ठानी मिलकर दोनों रोटी खाओ नाचो गाओ खुशी मनाओ मुझको काम बहुत करने हैं मैं जाता हूँ तुम भी जाओ ये कहकर हाथी चला गया अपना काम करने हाथी के जाते ही दोनों बिल्लियां फिर लड़ने लगी पेड़ पर बैठा बंदर बड़ी देर से बिल्लियों को यूं लड़ते हुए देख रहा था उस चालाक बंदर ने हाथी के जाते ही बिल्लियों को आवाज लगाई बिल्ली बहना आनो दोनों मेरा कहना एक तरह लू झटपट लाओ आधी आधी रोटी खाओ दोनों बिल्लियों को बंदर की बात पसंद आ गई दोनों बोली बंदर मामा बंदर मामा तुम ही हमारा निपटारा कर दो ना ये सुनकर बंदर उछलकर नीचे आ गया वो बनिए की दुकान से तराजू भी उठा लाया बंदर ने रोटी के दो हिस्से किए और तराजू के दोनों पलड़ों पर रख दिए रोटी का एक टुकड़ा बड़ा था इसलिए वो पलड़ा नीचे झुक गया बंदर बोला <laughs> ये वाला हिस्सा ज्यादा है इतना कहकर उसने उस रोटी का एक टुकड़ा तोड़ा और खा गया अब पहले वाला पलड़ा भारी हो गया फिर बंदर मामा ने उसमें से टुकड़ा तोड़ा और खा गया इस तरह वो बारी बारी से पलड़े के दोनों ओर की रोटी खाता गया और सारी की सारी रोटी खत्म कर दी सारी रोटी खत्म देखकर काली और भूरी दोनों बिल्लियां बहुत पछताई लेकिन अब क्या हो सकता था दोनों बिल्लियां रोती पछताती हुई चली गईं।